हिंदुस्तानी सिनेमा की खासियत है गीत दुनिया भर के सिनेमा में कहीं आपको गीत नहीं मिलेंगे आमतौर पर लेकिन हिंदी सिनेमा गीतों के बगैर अधूरा है और ये बात शुरू से है हमारे साथ हैं हिंदी सिनेमा के बहुत मशहूर गीतकार श्री गोपाल दास नीरज जी नीरज जी अपने जीवन के लगभग नौ दशक पूरे करने वाले हैं यानी जब से सिनेमा ने बोलना शुरू किया लगभग पूरा इतिहास नीरज जी के सामने है और उनका योगदान हिंदी सिनेमा को बहुत ज़्यादा है आइए उनसे मालूम करते हैं कि ये ख़ास बात यानी गीतों की के ज़रिए से कहानी कहने की कला और उसमें गीतकारों का जो रोल था जो भूमिका रही उसमें वो कैसी रही और उनका अनुभव सिनेमा से कैसा रहा स्वागत आपका नीरज जी आपकी जो शख्सियत है कभी किसी कभी सम्मेलन में जाते हैं तो आयोजक आपके नाम की के जामिन होते हैं कि अच्छा बैठे रहिए नीरज जी आएंगे तो वो आकर्षण वो सम्मोहन आपका है कि दर्शक श्रोता बैठे रहते हैं नीरज जी आएंगे आपको सुनकर ही जाएंगे जब आप सिनेमा में गए तो जो भी गीत आपने लिखे वो इतने लोकप्रिय हुए कि जन जन तक पहुँचे और गुनगुनाते रहे लोग उसमें आपका दखल साहित्य में और सिनेमा के लिए जो गीत लिखे गए उसमें बराबर का रहा और सबसे ख़ास बात ये अलग कर देती है हमें कई बार चकित करती है कि जब आप उर्दू में लिखते हैं तो बिल्कुल चेस्ट उर्दू में लिखते हैं और जब आप हिंदी में लिखते हैं तो उतनी ही शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल <laughs> करते हैं तो किस तरह से जुड़ा हुआ सिनेमा में आठ फरवरी 1960 को एक आयोजन वहाँ किया गया था श्यांश प्रसाद जी ने किया था नीरज गीत गुंजन समारोह तो एकल का पाठ मुझे करना था ढाई घंटे का भाई चौहान चीफ मिनिस्टर थे इस वक्त वहाँ पर आए थे तो मैंने ढाई घंटे वहाँ पाठ किया का और उन्होंने मुझे तो पाँच हज़ार का पर्स प्रेजेंट किया था पब्लिकली तो वहाँ आर चंद्रा वगैरह जिन्होंने वो बताई पिक्चर बरसात की रात वो उपस्थित थे उन्होंने जब सुना तो मुझसे कहा कि भाई नीरज जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरी पिक्चर में गीत देखें नया स्टूडेंट आपका ही है उसके लगा हीरो बना रहा हूँ और आप करो तो अच्छा होगा मैं ठीक करूँ लेकिन मैंने कहा मैं लिखने के लिए नहीं आ सकता आपको चाहिए तो मेरी कविता ले सकते हैं आप तो उन्होंने क्या किया था कारवा गुजर गया मैंने 1954 या फाइव में दूरदर्शन वहाँ से पढ़ाया था रेडियो रेडियो स्टेशन लखनऊ से अच्छा। तो ओवर नाइट बहुत लोकप्रिय हो गया था वो सारे देश में पाकिस्तान तक वो लोकप्रिय हुआ था कारण क्या था कि कारवा गुजर गया गुबार देखते रहिए फ्रेजी हिंदी वाले नहीं जानते थे हाँ। उर्दू में भी नहीं आता था फ्रेज तो इसलिए उन्होंने इसकी लोकप्रियता बनाने उन्होंने पिक्चर बनाना चाहता हूँ मैं ठीक है पिक्चर बनाई रफ़ी ने जब इस गीत को गा दिया तो पिक्चर के माध्यम से विश्व फैल गया वो मैं जहाँ जहाँ अमेरिका कनाडा लंदन ऑस्ट्रेलिया कहीं जहाँ गया और सब कुछ कारवा गुजर गया कारवा की फरमाइश की तो फिल्म का बहुत बड़ा योगदान रहा और मैंने जो गीत लिखे गीत नहीं लिखे थे मेरी कविताएँ थी आज की रात बड़ी शोक बड़ी नरखड़ी कविता थी मेरी प्यार का मुहूर्त निकल जाए कविता थी सारी कविता लिखे बनाई गीत तो हिट हो गई पिक्चर होनी चली लेकिन उससे मेरा परिचय मेरी धूम मच गई बॉम्बे में फिर एक बार क्या हुआ कि देव साहब एक कवि सम्मेलन चीफ गेस्ट बन के आए थे देवानंद जी तो उन्होंने सुना तो बोले Neeraj someday we will work together फिर क्या हुआ टी बी झंझनवाला मेरे दोस्त थे वहाँ बॉम्बे में वो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे उनका परिचय था तो वो परिचय कराने मिलाने के लिए गए वहाँ पर देवसा ने कहा हाँ, मुझे याद है मैं आपके साथ काम करूँगा एकदम तो मैं चला आया फिर उसके बाद प्रेम पुजारी 1960 में 64 में 65 में मैंने कहीं उसके एडवर्टीजमेंट देखा इसकी हाथ में मेरे बड़े उसमें प्रेम पुजारी अनाउंस की थी उन्होंने शैन की डेथ हो गई गीतकार नाम नहीं था उसमें तो मैंने बाईज बाई wrote letter to Dev Sahab कि मैं आपने मुझसे से प्रॉमिस किया था and I want to write क्योंकि तुरंत सात दिन बाद मेरे पास चिट्ठी आई टेलीफोन तो था नहीं उसमें मेरे घर पर लेटर आया उनका न्यूज़ कब come close finger advance come advance मैं चला गया वहाँ पर तो बोले आप जाना कब है मैं छः दिन छुट्टी लेके आया हूँ साहब तो बोले इसलिए पूछ रहा हूँ मैं रिजर्वेशन करा देता हूँ लौटने का भी हवाई जहाज़ से लेके क्या है एस डी से मैंने बात की थी तो एस डी वर्मा ये बोले कि मैंने यहाँ नीरज कौन हमारी चीज में लिख पाया नहीं लिख पाया तो उन्होंने कहा कि नहीं लिख पाया मैं रिजर्वेशन ऑलरेडी करा दिया उसको जाना कहा चिंता मत करिए तो ले गए मुझे तो एलिबर ने कहा देखो ये ट्यून है मैं छोटा छोटा सब चाहिए मुझे सिचुएशन शराब की हैगी शराब पी गए वो खेमकर की लड़की गई है वहाँ तो उसके ऑनर वो फंक्शन मनाया जा रहा है देव साहब दूसरी लड़की को लेकर आती है तो देखे फ्रस्ट्रेट होती है किसी ढूंढने में यहाँ ही हो ही पागल हो गया दूसरे साथ घूम रहा है ये सोच करके शराब की सिचुएशन है फ्रस्ट्रेशन है पीड़ा है रेमिनिसेंसेस है और सतार भी है और तो पहला सब रंगीला चाहिए मुझे रंगीला तो ट्यून सुनाई मैंने समझ ली तो साहब ने कहा कि जब तुम लिखोगी तो मुझे सुनाना आगे पहले उनको ऊपर चले जाना सुनाने के लिए मैं ठीक मैं रात भर बैठ कर मेहनत कर गीत पूरा किया और जब सुबह देव साहब को मैं सांताक्रूज में रहता था वही सांताक्रूज उनका खीरा बिल्डिंग थी वहाँ गया देव साहब को सुनाया वो खड़े हो गए उठ गए और नहीं आती क्या कहना क्या कहना वाह वाह वाह वाह वाह रंगीला रे वो तो हिट सुपर हिट था शोकियों में घोला जाए अब इसमें था मेरा ओरिजिनल कविता थी चांदनी में घोला घोला जाए वो शोकियों में घोला जाए वो अच्छा ओरिजिनल थी चांदनी में घोला जाए चांदनी में घोला जाए फूलों का स्वभाव उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब राज कपूर का कि भाई गीत लेना मैंने मैं तो यहाँ मैं कैसा हूँ नहीं वो आइए आप तो मैं गया वो ले गए छः दिन छुट्टी ले गए अब कॉलेज से मैं गया तो मैंने कहा राज साहब बोले ऐसा करो नीरज ऐसा करते यहाँ लोनी तो चलते हैं पूना वहाँ डिस्टर्बेंस न्यू मचल काम करिए बड़ा डिस्टर्ब रहेगा लेने पूना में पूना में उनका महल था तो खाना वाना हमने कि साहब बताओ क्या लिखना है बोले गीत लिखो कोई हमने गीत किसके लिए बोले जोकर गाएगा सर्कस गीत होना चाहिए मैंने आप गाएंगे जोकर मैं तो समझा आपने क्या मैं समझा था आपको गंभीर बात होगी बोले नहीं नहीं तो नहीं बताइए क्या लिखा जाए नहीं गीत का लिखा है जोकर गाएगा तो गवैया हो जाए कैरेक्टर मर जाएगा तो न गीत गा सकता है न गज़ल गा सकता है न कव्वाली गा सकता है न भजन गा सकता है अब वो चक्कर में क्या बजाए है दो दिन हो गए तीन दिन रास्ता बता बोले हम नहीं जानते अब आपकी मर्जी जो करिए तब मैंने बताया साहब ब्लैंक वर्स हो सकता है कि गाता जाए बात भी करता जाए बातचीत हो जाए बोले हाँ ही चाहिए तो ए भाई ज़रा देख के चलो जो मैंने सुना उनको ओ बोले यही चाहिए था पूरा सर्कस में रूपक है सर्कस के माध्यम पूरा जीवन दर्शन है उसमें इससे पहले फिल्म ब्लैंक वर्स कोई आया नहीं था तो अब राजस्थान का तीन बताइए आप तो तीन मैंने इसकी बताई कैसे पड़ेगा एक ही जो था उन्होंने दादा ने कहा खटबल की सिचुएशन है तो बोले खटबल लिखो तो उनकी बड़ा फेमस गीत था पहले का धीरे जाना बगियन में वो बगिया आपको सुना बहुत फेमस गीत था उसी को पेलोडी लिखवाई तो मैंने दादाजी आप क्या कर रहे अपना इतना सुंदर गीत मरवा रहे बोले नहीं तुम लिखो लिखा लेकिन वो भी खींचे धीरे जाना खटिए वो खटबल ये जहाँ ना कविता उसमें भी है ये फिल्म का कैरियर चला फिर जब मेरी क्या हुआ सेवेंटी थ्री में जब मेरी पिक्चर सिल्वर जुबली कर रही थी शर्मीली तब मैं चलाया वापस इसलिए चलाया वापस कि सबसे पहले रोशन के साथ हिट हुआ था मैं कारवा गुजर गया बनाकर सारे विश्व पहुँचा दिया था वो नहीं रहे दुनिया फिर ये राज कपूर का ग्रुप टूट गया जगत सिंह की डेथ के बाद मैं ये भी गई अब उसके बाद है एस डी उन्होंने बीमार का काम करना छोड़ दिया तो मैंने कहा अब तीन लोग इतने बड़े बड़े चले गए कि था लिखा मैं सबके साथ लगे सबके साथ हिट हुआ भाई मनोज कुमार के गीत लिखे वो भी हिट हुए कन्यादान के लिखे वो भी हिट हुए नीरज जी ये ख़ास बात हिंदी फिल्मों की है कि गीतों के बगैर आमतौर पर फिल्मों की कल्पना नहीं करी जा सकती बल्कि शुरू में तो बहुत ही फिल्म गाने हुआ करते थे और ये श्रेय भी जाता है कि हिंदी फिल्मों के गीत अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी बहुत लोकप्रिय हैं नी भाषा का इतना बड़ा प्रचार फिल्म ने किया तो किसी ने किया मैं तो हर गीतकार से कहता हूँ पहले जाके फिल्म ट्राई करो फिल्म में ट्राई करोगे तो तुम डिक्टेटर ऑफ लैंग्वेज होगी तभी कर सकते हैं फिल्म सफलता फिल्म का गीत आप तब लिख सकते आप डिक्टेटर ऑफ लैंग्वेज हो कि मुझे कैमरे का भी लिखना पड़ा ये कैमरे में मैं अपनी तरफ लिखा क्या लिखा था ताज प्रणव बहुत फेमस गीत हुआ रेशमी उजाला है मखमल अंधेरा अच्छा जो भाषा आपने जो इस्तेमाल की आ, हाँ, सिनेमा में वो उसमें भी आपकी एक अलग पहचान है वो भाषा कोई लिख नहीं पाया मैंने वो नए प्रयोग किए सपनों की गीतांजलि तू सांसों की सरगम धड़कन की वीणा सपनों की गीतांजलि तू इतना मध्य संस्कृत के शब्द नीरज नैना नैन भाई गंगा मोरे फिर मैंने तो लैंग्वेज कोई लिख नहीं पाया कि फिल्म की भाषा दूसरी है अधिकांश फिल्म के गीत जो है पचास शब्दों घूमते हैं रब्बा रब्बा रब्बा ये चलते शब्द हमने प्रयोग नहीं किया कभी आज के जब आप गीतकारों को कभी कभी सुनते होंगे सिनेमा में तो क्या लगता क्या है अब दो तीन लोग मुझे पसंद हैं ये गुलजार साहब बहुत सीखते अच्छा हैं नया नया नया एक्सपेरिमेंट करते हुए और एक लड़का क्या नाम कुशवीर सिंह जो बहुत अच्छा लिख रहा है अब ये गीत बहुत लिखा तो मैं मैं एक पीछे मुझे लिखवा रहा हूँ लोग मुझसे गीत लिखवा रहे थे मैंने कि भाई फिल्म फिल्म के गीत तो लिखता नहीं आप कहो तो प्रश्न जो इसमें कह दूँ लिख लिखने के लिए बोले आँख दे दें तो कह वो लिख दूँ दादा कि आपके आँख उसका पर जो अब नजर मैंने किया तो देहरादून चार पाँच साल पहले उनका भी गीत बहुत अच्छा वो अभी जो लिखा सूफिया ना उसने मिल्खा सिंह में जी अलफ अल्लाह अलफ अल्लाह बहुत बढ़िया गीत है बहुत प्रयोग करते हैं नहीं अब पंजाबी भाषा लिखी पूरी अच्छा आपने जब सिनेमा में प्रवेश किया था तो उस वक्त भी उर्दू के भी शायर रहे होंगे उस समय सब करे शायर के साथ शायर में शायर थे मजदूर थे इंदीवर थे परिजवास थे प्रदीप थे इन सब के साथ लिखना था मुझे उस समय जो को लिखा कविता लिखी गई सब समय और लोग भी कविता लिख रहे थे शायर ने भी समय पोइट्री लिखी इस वक्त सस्ते सस्ते गीत नहीं लिखे थे कोई मुझे भी टक्कर लेनी पड़ी तो वही मैंने जो लेके खात्मा गुजरेगा सुबह टू आज की रात बड़ी सुख बड़ी नजर प्यार का मुहूर्त निकल जाएगा सब कुछ तो जिस समय होता है वो दौर था कविता का प्रोग्रेसिव मूवमेंट चल रहा था प्रोग्रेसिव मूवमेंट भी चल रहा था ना साथ उसको जीत जो आज की रात बड़ी चल रहा है फट पर ठहर हुए जो वहाँ देते हैं फुटपाथ पर ज़िंदगी जिनके कफन तक नहीं आ पाती है और वो झोपड़ी छत भी है जिसके सर पर छाते छप्पर ही जहाँ ज़िंदगी सो जाती है फिर सबके लिए एक इमारत कर लूँ फिर तेरी मांग सितारों से चली जाए इलाज में लगना पड़ा मुझे तो क्या एक विचारधारा थी विचारधारा की तस्वीर लिखी जा रहे बाद में इसके बाद एक समय आया मैंने देखा जब मैं चला गया थोड़ी देर बाद देखा कि जो पिक्चर लाखों बंदी करोड़ों बनने लगी मैं जब तक रहा यहाँ तब तक पिक्चर लाखों बंदे आती थी लाख जब मैं हूँ दो चार तो आप पिक्चर शुरू कर सकते थे जब मैं देखा थोड़ी देर बाद देखा करोड़ों जगह पुराना सब आउट कर दिया उन्होंने कोई पुराना मुझे तो सब आउट कर दिए नौशा तक रही नौशा को नहीं रखा और मुसलमान जितने सबको आउट कर दिया और नई नई लड़के आ गई अब करोड़ों पिक्चर बनने लगी हैं समझ एक आठ या पच्चीस पच्चीस करोड़ मांगता है और सौ सौ करोड़ का बिजनेस हो रहा है अब गीतकारों को भी बहुत अच्छा पेमेंट अब मुझे मालूम है तो आपने कभी मांगा नहीं देवता जो कुछ दे दे लिया अब जो गीतकार भी लाख दो लाख लेते होंगे पिक्चर का पर एक चीज़ है एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ ग्रामर पूरी सिनेमा की बदल गई और कम उम्र के जो डायरेक्टर्स हैं वो भी बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं ये जो गीतों को लेके संगीत को लेके कभी उतार चढ़ाव आते रहे पर ये जो है एक भाषा एक जबान जो सिनेमा की है उसको लेके ये था काफ़ी हद तक तो डायलॉग्स ज़्यादातर उर्दू में ही हुआ करते थे और कभी जो देशज शब्दों का बड़ा इस्तेमाल किया गया अब की भाषा तो बिल्कुल एक कहिए कि हिंदुस्तानी जबान आ गई अब तो और हिंदुस्तानी जबान में ही कोई चीज़ लोकप्रिय हो सकती है न उर्दू चल सकती है शुद्ध हिंदी चल सकती है न शुद्ध उर्दू न शुद्ध हिंदी हिंदुस्तानी जबान जो हम बोलते हैं उसी में चलेगी ना और गंगा जमनी तहजीब करी कुछ करिए और वही तहजीब यहाँ की रही है देश आज भी गज़ल जितने लग रहे हम तो उर्दू मशारे में भी जाते हैं जितने गज़ल के देखने सब हिंदुस्तानी जबान लिखते हैं अच्छा आपकी सभी रचनाओं में एक एक विचार यात्रा एक दर्शन नज़र आता है तो ये हमको लोगों ने मिसदर से आज़ादा किया श्रृंगार कभी माना हमको बहुत लोगों जिन्होंने नहीं थी गहराई पढ़े नहीं लेकिन श्रृंगार कभी नहीं हुआ है क्या दर्शन में लिखा है फिलोसफी लेकिन philosophy clips the wings of poesy की फिलोसफी कविता के पंख तक देती है यानी प्रदर्शन में कविता नहीं लिखी जा सकती लेकिन मैं कहता हूँ without philosophy poet is a big zero तब फिलोसफी में कैसे कविता लिखी जाए फिलोसफी के बगैर कविता जीरो कविता जीरो को मानता हूँ मैं तो कैसे होता है जैसे प्रकार से पारस को स्पर्श करके लोहा सोना हो जाता है उसी प्रकार रूमानी बिंब को लेकर के जो स्पर्श मिलता है फिलोसफी दर्शन फिर तरस हो जाता है जैसे वही गीत है प्यार का ये मुहूर्त निकल जाएगा लाजमी का कौन श्रृंगार पूरा यहाँ करता है ये सूत्र है उसी प्रकार जो कुछ मैंने कहा है इस सागर में कोई न बचा सबके सब क्षण में डूब गए जो मझधारों से बच आई वो किसी नयन में डूब गई बुद्ध का दर्शन है बुद्ध ने कहा संसार में दुखी दुख है दुख सत्य है तो वो मैं कह रहा हूँ पानी के माध्यम से कि संसार में ऐसा दुख का समुद्र है कि सब कोई बचता नहीं जमीन पर हम खड़े लेकिन सबके ऊपर पानी चल रहा है उसके तरह तरह के रूप हैं पानी ही था सब और मगर बहता था अनगिन रूपों में अरे सूखे कपड़े पहन के भी तो घूमता कभी कभी इस सागर में कोई न बचा सबके सब क्षण में डूब गए जो मझधारों से बच आए वो किसी नैन में डूब सभी डूबे थे चोटी तक कहने को थे वासी थल के पनघट से लेकर मरघट तक छीटे ही छीटे थे जल के पानी ही था सब और मगर बहता था अनगिन रूपों में जो शब्द जो समय शब्द थे काजल के वो सांझ अछूते अंचल के ये साता लहरों का चढ़ाओ बस सका न कोई रंग कराओ कुछ झोपड़ियों में अगर हुए कुछ राजभवन में डूब गए सागर में कोई न बचा चलिए वापस अगर उस पर एक चीज़ आपके जीवन से कुछ एक आध सवाल मालूम कर लेते नीरज आपने नाम क्यों चुना आपने लिए नीरज पहले नाम तो था मेरा गोपाल दास था तो हमारे हम वैष्णव लोग हैं हमारे हमारे जितने भाई नाम दास गोपाल दास किशन दास दमोदास सब नाम हैं समझा तो लोगों का ये फिर मैं भाव का नाम रख लिया भावुक शब्द बड़ा ख़राब तो लग रहा है कि भावुक भावुक क्या होता है लोग यार सलाम रखोगी लोगों का नीर रख लो हम ठीक है या नीर रख के वो जूते के साथ बड़ा सूट करके हमारे नाम को मैं थोड़ा स्टोरी भी जानता हूँ तो नीरज के हिसाब से बहुत सूट किया मुझे समझे साहब और जात पात में मेरा विश्वास कभी रह नहीं रहा किसी की किताब पर मैंने नीरज के खिलाफ कुछ लिखा ही नहीं समझे साहब लोग रात को जोड़ने लगे ये जोड़ मैंने कभी जात पात भी कहा जात पात से बड़ा धर्म है धर्म ध्यान से बड़ा कर्म है कर्म कांड से बड़ा मर्म है मगर सभी से बड़ा यहाँ एक छोटा सा इंसान है और अगर वो प्यार करे तो धरती स्वर्ग समान है मेरी माता से जात पात विश्वास नहीं किया अब नीरज नाम से नीरज फैम पा लिया क्या है कैसे अभी समय भी मेरा ठीक ठाक समय आया है अब तो अभी और दो साल तीन साल तीन साल जी जाऊँ मैं मैं जानता हूँ कि कब जाना होगा अभी जो तो नाइन्टी टू मैंने हो रखा है अपना कैलकुलेट जो किया हुआ ज्योतिष के अनुसार नाइन्टी टू ईयर्स है हम देखो वही तो पैर चलने लगे काम नहीं कर रहे लेकिन आत्मशक्ति जो है मेरे में बहुत प्रबल है मेरे अंदर विल पावर है उसे जी रहा हूँ मैं और कहता हूँ फौलाद की मूर्त भी फैल सकती है पत्थर से भी रसधार निकल सकती है इंसान अगर अपनी पे आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है नीरज जी के रूप में हमारे सामने एक लगभग पूरी शताब्दी है जिस जिन्होंने अपने अनुभव से हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी बहुत सारी बातें सोचने को दी होगी आपको बहुत सारी सामग्री आपको दी होगी नीरज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया